सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी ही तीर जिते सर्गु येषां सामे स्थितं मनो निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात ब्रुमुनि ते सीधा गीता अध्याय पांच श्लोक उन्नीस हैव तैर जित सर्गो कई मन उन पुरुषों के द्वारा संसार यहाँ ही जीता गया ये जीवन मुक्त है कौन जिनका मन समता में स्थित ब्रह्म जो सूक्ष्म है विषम जो है सो संसार है प्रकृति है ब्रह्म सूक्ष्म है और निर्दोष है शुद्ध है निर्दोष मन दोष से रहित विकार से रहित शुद्ध जिनकी समता में स्थिति है उनकी ब्रह्म स्थिति है जिससे ब्रह्म निर्दोष है तो वह पुरुष भी निर्दोष है जिनकी समता में स्थिति है तो विषमता ही दोष है तो विषमता को उठा देना चाहिए ब्रह्म की प्राप्ति का ये खास लक्षण लिखा है उसके पूर्व में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनीचे सुपाकित पंडिता समदर्शिनो विद्या <clears throat> विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गौ हाथी चंडाल सुआ माने कुत्ता इन सब में जिनकी समय बुद्धि है वो ज्ञानी है ज्ञानी की इन सब में समबुद्धि होती है पंडित माने भगवत प्राप्त पुरुष जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया ऐसे पुरुष को पंडित कहते हैं तो विद्या बिना संपूर्ण ब्राह्मण ये तो सात्विक और गौ जो है पशुओं में सात्विक यूं कहो कि हम्म, गौ भाव सात्विक है पशु भाव एक प्रकार से तो सात्विक काम से मिले हुए होने से पशुओं में थे और हाथी जो है सो पशुओं में राज राजा लोगों के लिए सवारी के युग है कुत्ता जो है वो पशुओं में तामसी और चंडाल है तो मनुष्यों में तामसी तो मनुष्यों में और पशुओं के बीच के मां सात्विक राष्ट्रीय और तामसी जो पशु है या मनुष्य है उन सब के बीच के मान जो समबुद्धि है वह ज्ञानी है पंडित सच्चा ज्ञानी महात्मा पुरुष तो ऐसा ही बनना चाहिए अपने लोग यहाँ पशुओं में मनुष्य में में समता बतलाई துரீன মিত্রার যাশিনো মধ্যস্থ দেশবন্ধু সু সাদোস ও বিপে পতি সু සම්বদ্গਿਰবিস্থিতে ইনমা যেন কি톰 বুঝেও বিশেষ পুরুষে শ্রেষ্ঠ পুরুষে তুহয়া মনুষ্য মতনে সমতাপトライ সুরিবে অর মিত্রের বৈরি উদাসিন मदस्थ द्वेषी बंधु पापी धर्मात्मा सूर्य दुष्ट को कहते हैं जो प्रत्युपकार नहीं चाह करके निष्काम भाव से दया और प्रेम करे और मित्र उसको कहते हैं जो परस्पर में प्रेम करे और बैरी उसको कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे का जो अनिष्ट करने वाला हुआ उनके मां बैर भाव उदासीन उसको कहते हैं कि जो पक्षपात रहित तो बिल्कुल संबंध नहीं रखे और मध्यस्थ उसको कहते हैं कि संबंध रख करके और दोनों में समभाव पंच पक्षपात रहित पंच पक्षपात रहित हाकम द्वेष द्वेष कहते हैं जिनका स्वभाव ही द्वेष करने का और बंधु अपना कोई कुटुंबी जन किसी प्रकार का अपना संबंध साधु माने श्रेष्ठ पुरुष और पापी माने पापात्मा नीच साधु मतलब धर्मात्मा श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुष इन सब में जिनकी समबुद्धि वो श्रेष्ठ है इन सब में जिनकी समबुद्धि वो सबसे बढ़कर वो है ऐसा ही बनना चाहिए चीनी की कोई भी मिठाई बने खिलारा बने तो आखिर वो चीनी है उसमें बढ़िया घटिया क्या सोने के जितने आभूषण है वो सब सोना ही है चाहे कंठ हो कड़ा हो बंगड़ी हो कुछ भी हो मट्टी के जितने बर्तन हैं वो सब मट्टी है बुरुआ सिकोरा हांडी माठ कुंडा कुंडी जो कुछ मट्टी के बर्तन आंख में मट्टी है इस प्रकार परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें अच्छा बुरा नहीं वो तो परमात्मा ही है परमात्मा की जो लीला है उसमें बढ़िया घटिया क्या परमात्मा की लीला है तो उसमें घटिया बढ़िया क्या ये घटिया बढ़िया तो माया में हो संसार में हो जहाँ रागद्वेश हो वहां हो अनुकूल प्रतिकूल मन के अनुकूल में राग और मन के प्रतिकूल में द्वेष मन के अनुकूल के मां प्रसन्नता और मन के विपरीत के मां दुख शोक तो ये सब अपनी मानता है वास्तव में क्या चीज है जी को विचार में चाहिए वास्तव में तो एक परमात्मा है परमात्मा को जो उपदेश है वो मानने के योग्य है उनकी जो लीला है उसका अनुकरण करना चाहिए उसको आदर देना चाहिए और भगवान का जो स्वरूप है उसकी तो फिर बात ही क्या है तो इसका ये तत्व है परमात्मा के बीच के मां कोई सा ही भगवान का स्वरूप हो है भगवान का शेर उसका घटिया बढ़िया क्या चे निर्गुण हो चे सगुण हो और सगुण के वहां चे साकार हो चे निराकार हो और साकार में चे भगवान राम का रूप हो चाहे कृष्ण का हो चाहे विष्णु का हो चाहे शिव का हो और चाहे बड़ा का भी क्यों नहीं हो सिंह का भी क्यों नहीं है तो भगवान का होता है तो उसमें फिर घटिया बुढ़िया क्या तो भगवान के गुण प्रभाव तत्व रेस की जो बातें हैं वो सभी बढ़िया है तो ऐसा अपने को बनाना चाहिए जिससे वस्तु मात्र भगवान को स्वरूप दिखने लगे और चेष्टा मात्र भगवान की लीला प्रतीत होने लगे फिर न घटिया न बढ़िया बढ़िया बढ़िया तो घटिया नहीं हो भगवान कृष्ण जी कोई भी चेष्टा करते सभी चेष्टा गोपियों को बढ़िया मालूम देती सभी चेष्टा वे लीला के रूप में देखा करती कि भगवान लीला कर रहे भगवान श्री कृष्ण जी कभी चोरी नहीं करते झूठ नहीं बोलते इसका तत्व तो रहस्य गोपी समझ जाकर आजकल के लोग इस बात को समझते नहीं भगवान के हृदय में तो कोई कामना तो होती नहीं बिना कामना के बिना पाप बने ही आसक्ति से कामना से ही पाप बने काम ही हेतु है पापों संग भगवान गीता में यह बात कही है कि कामे से क्रोधे से रजगुण समूद है माँ सन्न माँ पाप माँ विद्य नमी वैरिणम हम्म, अर्जुन ने पूछा अतः के अतः के प्रयुक्त तो पापम चलती पुरुष अनिच्छन विवास ने बलादीव नियोजित हो अयम पुरुष हो ये पुरुष इसका प्रेरिया हुआ पाप का आचरण करता है पाप क्यों करता है मनुष्य इसका उद्देश्य नहीं है पृथ्वी की इच्छा नहीं है तब भी मानो कोई बलात्कार से इसको पाप में लगा देता हो तो वह कौन पुरुष है जो इससे जबरन पाप करवाता है अर्जुन ने गीता की तीसरे अध्याय के छत्तीस के श्लोक में ये बात पूछी सैतीस के श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे कि ये जो काम है आसक्ति से उत्पन्न हुआ जो काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम तो ये काम ये सब क्रोध होता है सिंहासन जाते काम है कामात क्रोध हो भी जाती संघ जो आसक्ति है राग स्वरूप जो आसक्ति है उससे काम उत्पन्न होता है काम से क्रोध उत्पन्न होता है इस वास्ते काम है ये क्रोध रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है रजोगुण से कह दो है आसक्ति से कह दो एक ही बात है रजो रागापक विधि रजोगुण को तुम राग ही सम कैसा है काम मांस मान खाने वाला जिसका पेट नहीं भरता जिसे अग्नि में आहुति दी जाए तो अग्नि प्रज्वलित होती है ऐसे ही अग्नि की माफक जो है सो काम बढ़ता रहता है इसका पेट नहीं बढ़ता कोई ऐसा विचार करे कि संसार के अनुसार हम भोग भूख करके अपनी लालसा पूर्ण कर लूं सोने तो की नहीं राजा याति ने यह गाथा गाई जिससे हवी अग्नि में डालने से प्रजित होती है ऐसे संसारिक विषय भोगों को भोगने से वो कामना अधिक से अधिक बढ़ती अब इसका त्याग करना चाहिए तो ये काम सो महापापी है जितने जो हमारे से पाप होते हैं उसमें काम हेतु है तो पाप कराने के विषय में ये काम तुम्हारा शत्रु है पाप का फल होता है दुख दुख दे वो शत्रु तो इस काम को तुम मार डालो ये उपदेश भगवान ने गीता की तीसरे जाके वहां सैतीस के श्लोक से लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत यही उपदेश दिए तो उनके बीच के वहां काम नहीं था भगवान तो पूर्ण काम है उनमें तो कोई इच्छा कामना है ही नहीं और है तो एक प्रकार से अपने जो प्रेमी जो भक्त है उनको खुश करने के लिए उनको आह्लादित करने के लिए उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए उनकी चेष्टा है तो शुद्ध है इसी प्रकार से कई जो पूछी हुई गोपियां थी जो भगवान की प्रकृति थी जो भगवान के साथ ही लीला करने के बाद आई थी वह भी उस भगवान के ही समान थी उनके बीच में उनके बीच में राधिका जी सबसे बढ़कर भगवान की एक लीलामय शक्ति थी तो भगवान की सारी जो लीला है सारी जो चेष्टा है चरित्र है वो अपने भक्तों को खुश करने के लिए गोपियों को खुश करने के लिए आल्लादित करने के लिए प्रेम बढ़ाने के लिए और भक्तों का जो चरित्र है वो भगवान को आल्लादित करने के लिए भगवान को खुश करने के लिए तो भगवान जो भी कुछ काम करते हैं उनको उनमें दोष नहीं दिखता तो परस्पर में उनका न कोई भय न कोई आदर न कोई सत्कार न कोई संकोच कुछ भी नहीं तो भगवान का जो स्वरूप है मधुर है उनकी लीला मधुर है उनमें जो गुण है वो मधुर है भगवान का प्रभाव मधुर भगवान की सारी चेष्टा है मधुर भगवान के सब वस्त्र मधुर और स्वरूप तो मधुर है ही कोई भी भगवान का स्वरूप क्यों नहीं हो कैसा भी क्यों नहीं हो वो तो माधुरी मूर्ति थी उस रूप माधुरी को देख करके गोपियां हर वक्त खुश रहा करती थी वो बात समझने की है भगवान की सारी लीलाओं बहुत ही मधुर है भगवान को शुरू कर सो मधुर है भगवान को उपदेश है जी को मधुर है गीता जो भगवान को उपदेश है जो भगवान का चरित्र था वो भगवान की लीला थी हम लोग जो व्याख्यान सुनते हैं ये बढ़िया ये घटिया ये हमारा भाव है ये भगवत की चर्चा सभी बढ़िया है सभी मधुर इन सब में तो संभाव होना ही चाहिए किंतु अपना तो मन के अनुकूल और प्रतिकूल उनमें भी संभाव करना है मिट्टी और सोना इनमें भी संभाव करना है या सोने को मिट्टी के रूप में समझना सोने को मिट्टी के समान समझना बैरी और मित्र में संभाव करना है तो यहाँ बैरी में मैत्री भाव करना है सुख और दुख में सम होना चाहिए तो यहाँ दुख के माँ सुख का भाव करना है सुख तो सुख है ही वो तो आनंद है ही दुख में भी आनंद बुद्धि करनी इसी प्रकार से थी सबके बीच के मां स्तंभ भाव परमात्मा को सर्वत्र देखने से सब में संभाव आप ही जाता है युवा पश्यति सर्वत्र सर्व च मई पश्यति तस्ह न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति सर्वभूत स्थित युवा भजती एकत्व आसित सर्वथा वर्तमानोपी सहयोगी वही वर्तते भगवान कहते हैं गीता अध्याय छह श्लोक तीस और इकतीस में कि युमांग पश्चि सर्वत्र जो पुरुष मुझ परमात्मा को सर्वत्र देखता है सर्वं मई पश्यति और सबको मुझ परमात्मा देखता है उससे मैं कभी अलग नहीं होता उसके कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे कभी अदृश्य नहीं होता उसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता और वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता सारे भूतों में मैं जो सम भाव से स्थित हूँ भगवान कहते हैं कि सारे भूतों में मैं जो समभाव से स्थित हूँ ऐसे मुझ परमात्मा में जो एक ही भाव से स्थित हो जाता है यानी मुझ में तन्मय हो जाता है तन्मय होकर के जो मेरे स्वरूप का अनुभव करता रहता है लोक दृष्टि में वो संसार में जो भी कुछ करता है बढ़ता है वो मेरे में बढ़ता है यानी उनकी सारी लीला सारी चेष्टा सारी क्रिया एक लीला के रूप में हो जाती है Yeah.